तहि बह पद पुनियापन पुन्यापन सन्देह सुनावान् सुनिता कर विनति सहित मय कहूँ भवानी बिलहु गरुण मारग महिमोही कवन भाते समझावऊ तो तब ही हो ये सब संशय भंगा जब बहुकाल करिय सत संगा गरुण ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया हे भवानी उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा हे गरुण तुम मुझे रास्ते में मिले हो राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं? सब संदेहों का तो तभी नाश हो, हो जब दीर्घकाल तक सत्संग किया जाए सुनियत हरे कथा सुहाये नाना भाते मुनिन गाये जहि मह आदि मध्ययवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान नित हरि कथा हो तह भाई पठवाऊता सुनहु तुम जाये जाइ सुनत सकल संदेहान राम चरण हो यह अति ने और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं हे भाई जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ तुम जाकर उसे सुनो उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा बिनु सतसंगन हरि कथा रही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद हो न दृढ़ अनुराग सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता मिलसिन रघुपते बिनु अनुरागा किए जो जप ज्ञान विरागा उत्तर दिश सुंदर गिरनीला हर काक हुसुल सुशीलां राम भगति पथ परम ज्ञानी रामकथा कहहि निरन्तरम् सादर हे विविध विहंग बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते अतएव तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है वहाँ परम सुशील काग भुसुंडी जी रहते हैं वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं ज्ञानी हैं गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं वे निरंतर श्री राम जी की कथा कहते रहते हैं जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं जाए सुनहु तह हर गुण भूरी हो जिह मोह जनित दुख दूरी मैं मै जबहि सब कथा हर से मम पद ताते उमान मैं समझा रघुपति कृपा मरम मैं हो यही केन् कबहु अभिमान सुखो वै चह कृपा निधान वहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा मैंने उसे जब सब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया हे उमा मैंने उसको इसीलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया था उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं कछुत पुनि मैं नहीं राखा समुझ खग खग ही कै भाषा प्रभु मायाव प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि न मोह कवन यश ज्ञानी फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं हे भवानी प्रभु की माया बड़ी ही बलवती है ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले ज्ञानी भगत मणि त्रिभुवन पते कर जान ताहि मोह माया नर पावर कर ही गुमान शिव बिरंच कहु मोह को है बपुरा आन असजिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है उन गरुण को भी माया ने मोह लिया फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं गया